और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की है तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे हर इंसान की जान अपनी कमाई के बदले रहन रखी हुई है